और अब मेरा ख्याल साज संगीत काफ़ी हो गया है अब हमें गायकी की तरफ आना चाहिए तो बहुत ही प्यारी आवाज़ आपके सामने आ रही बहुत अच्छी गायिका हैं जय श्री सेन गुप्ता आप ए कानन और श्रीमती मालविका कान कानन से आपने म्यूज़िक सीखा है और इनके साथ हारमोनियम पे संगीत करेंगे फिदा हुसैन साहब और तबले पे एक बार फिर यूसुफ महमूद तशरीफ़ लाएंगे आपको ठुमरी दादरा और भजन सुनाएंगी जयश्री तो जयश्री का स्वागत कीजिए इन तमाम कलाकारों के साथ ladies gentlemen we'll have vocal music now it's going be thumri dadra and bhajan by Jayashree Sen Gupta और she'll be telling you about the ragas she is going to present bit more details मुझे लगता है बहुत ही सूझवान लोग आ गए हैं अब और भी बिल्कुल हॉल भरा हुआ है हमारे वो बिना म्यूज़िकल वाले भी नज़र आ रहे हैं कुलदीप जी मेरा ख्याल ये सब साज आपकी दुकान से आए लगते हैं सुरीले हैं thank you ladies gentlemen please welcome Jayashree Sen गुप्ता